गीत अतीत हर गीत की एक कहानी होती है दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी सजीव सारथी और आज हम आ पहुंचे हैं अपने इस प्रिय कार्यक्रम के सत्ताईसवें एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक कालजयी कल्ट क्लासिक कवाली की जिसे महान कवाल अजीज नाजा ने मूल रूप से गाया था और अभी हाल ही में प्रदर्शित फिल्म इंदू सरकार के लिए इसे दोबारा रीडअप किया गया उन्हीं के सुपुर्द मुस्तबा अजीज नाजा ने तो बिना देर किए मैं आज आपको मिलवाता हूँ मुस्तबा भाई जो इस लाजवाब बेमिसाल कवाली से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ आज हमारे आपके लिए लेकर आए हैं यकीन मानिए जिंदगी का नंगा सच है इस कवाली के कड़वे कसीले शेरों में जिसे लिखा है केसर रत्न गिरवी ने तो चलिए सुनते हैं मुस्तबा भाई से आज इसी कवाली के दोबारा बनने की कहानी नमस्कार आदाब दोस्तों मैं हूं मुश्तबा अजीज़ नाजा और आज मैं हूं गीत अतीत हर गीत की एक कहानी होती है कार्यक्रम में संजीव सारथी के साथ चढ़ता सूरज धीरे धीरे कवाली की कहानी लेकर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब मरहूम अजीज़ नाजा साहब जिनकी कवाली चढ़ता सूरज पूरी दुनिया में मकबूल है और आज भी लोगों के दिलों और ज़बान पर छाई हुई है सोचिए जब ये कवाली बनी होगी तो इस कवाली की चर्चा तो ज़रूर रही होगी क्योंकि मेरा दावा है कि उस दौरान हारमोनियम बेंजो तबला ढोलक और चंद तालियों से कवाली की पहचान होती थी कोई नहीं सोच सकता था कि कवाली में सारंगी पियानो ग्लाइकॉन गिटार और इसके अलावा इस तरह से कवाली को किसी कोई पेश कर सकेगा और वैसे भी ये पहचान थी मेरे वाले साहब की कि मुख्तलिफ और नए राग साज और अरेंजमेंट के साथ वो अपनी हर कवाली को सजाते थे जो कि सामीन को महफ कर दिया करते थे उनकी न जाने कितनी कवालियाँ हैं कि जो आप सुनते हैं आज भी और जो आज भी तरो ताज़ा महसूस होती हैं मेरे वालद मोहतरम मौसीकी के बादशाह मेरी नज़र में मौसीकी के बादशाह थे क्योंकि उनकी जो भी जिद्दत और कोशिश हुआ करती थी वो उनके वक्त से काफ़ी आगे की होती थी उनकी कुछ कवालियाँ जो कि मैं बचपन से बहुत पसंद करता था और आज भी सुनता हूँ पसंद करता हूँ जैसे झूम बराबर झूम शराबी मस्ती में आ पिए जा तीर नज़र का हो दिलदारा जल्दी आ जा आने वाले और ऐसी बहुत सी कवालियाँ ही नहीं बल्कि गज़ल गीतों में भी मेरे वालिद का अंदाज़ सबसे जुदा रहा है बचपन में पाँच साल की उम्र में मेरे वालिद नहीं रहे मगर उन पाँच सालों में मुझे उनसे जो मोहब्बत मिली है मैं समझता हूँ कि आज भी उनकी मोहब्बत और दुआएं मेरे साथ हैं और वो कदम कदम पे मेरे साथ हैं आप सब जानते हैं कि हाल ही में अभी फिल्म इंदू सरकार रिलीज़ हुई थी जिसमें मैंने मेरे वालिद साहब की वही मशहूर कवाली चरता सूरज को रिक्रिएट किया था संगीतकार अन्नू मलिक जी और निर्देशक मधुर भंडारकर जी ने इसमें बहुत मेरा साथ दिया मधुर भंडारकर जी के साथ का मेरा यह एक्सपीरियंस बहुत मेरी ज़िंदगी के यादगार पलों में से एक रहा है क्योंकि इनके साथ काम करके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है अन्नू मलिक जी और मधुर भंडारकर जी के साथ मधुर जी के फिल्म की सिचुएशन को देखते हुए ये कवाली को हिंदू सरकार फिल्म के लिए चुना गया था और इस फिल्म में ख़ास बात यह थी कि मधुर जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस कवाली की खूबसूरती को बिगाड़ा जाए या ख़राब किया जाए और अनु मलिक जी ने इसका पूरा ख्याल रखा हितेश मोदक जी ने भी गाने के गाने को बखूबी सजाया है ये कवाली ऐसे ही मदोश कर देने वाली है ये तो आप सब जानते ही हैं और ये कवाली ऐसी तासीर रखती है और इसमें चार चांद लग गए जब रिकॉर्डिंग के दौरान खूब लज्जतदार खाने का इंतज़ाम किया गया था यकीनन मेरे वालिद खाने पीने के खूब शौकीन थे इसलिए खाने के दौरान अन्नू जी ने मेरे वालिद से जुड़े कई वाक़े हमें हमसे शेयर किए और एक बहुत ही यू नो बहुत मज़ा आई उस दौरान जब हम सब एक होके खा पी रहे थे और उनके वाक़े सुन रहे थे काफ़ी रिहर्सल के बाद रात 10 बजे लगभग हाँ 10 बजे से कुछ घंटों में हमने कव्वाली को ख़त्म किया उसी दौरान मधुर जी मधुर मधुर जी से हुई बातचीत में उन्होंने मुझसे पर्दे पे अदाकारी की चर्चा की मैंने तो बेसाख्ता उनसे ये बात ज़रूर कह दी कि आप चाहे जिसको भी बेहतर समझे भाई वो डायरेक्टर हैं आप आप जिसको बेहतर समझे आप इसमें मौका दें मगर इस कवाली को मेरे सिवा और कोई इस तरह से निभा नहीं सकता क्योंकि मेरे वालिद साहब की कवाली है पहली बात तो और एक मशहूर और यादगार कवाली है मेरी ज़िंदगी की भी और इसके अलावा मैंने बचपन से इसको सैकड़ों मरतबा स्टेज पर इवेंट्स में गाया है और ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मेरी बात से भी सहमत थे और उन्होंने ये बात कही कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस इसको तुम पर्दे पे भी अदाकारी तुम ही करो और शूटिंग के दौरान भी मैंने इसको जी जान से पूरी निभाने की कोशिश की है वो आप पढ़ते पर दिखेंगे तो आप खुद ही खुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे दोस्तों अभी मेरी एक फ़िल्म और आने वाली है जिसका नाम स्निफ है और मेरे पसंदीदा निर्देशक जनाब अमोल गुप्ते जी मतलब इसका निर्देशन कर रहे हैं और उनके निर्देशन में म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और 25 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है तो मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि बहुत गुजारिश करता हूँ कि आप सब इसे देखने भी इस इस फिल्म को भी देखने ज़रूर जाएं जाने से पहले इतना और कहना चाहता हूँ कि मेरी दिल से दुआ है कि हमेशा आप सबके दिलों में मेरी जगह बनी रहे और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने जिद्दत काविश के ज़रिए कुछ नया करूं और आप सबके आप सबको खुश कर सकूं मैं जाते जाते आप सबको वही एक मशहूर कवाली मेरे वाली साहब की जो कि मैंने हिंदू सरकार के लिए भी गाई है जाते जाते आपको और हमारे संजीव सारथी जी के लिए भी मैं वो दो लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ आजी जवानी दराने वाले कल पछताएगा आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा बेशक हर दिन सूरज ढलता है मगर मेरे वालिद के नाम का और इस कवाली का सूरज कभी नहीं ढलेगा ये मुझे उम्मीद है और आप सबका प्यार है आप सबका प्यार साथ में है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सारथी जी का भी थैंक यू सो मच आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा जमीन सर जेवर कुछ न साथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने तन रहा है दीवाने तन रहा है आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है इससे प्यार करता है अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा दिखा डाला कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे दोनों हाथ खाली थे हलाक न वो हलाकों हैं और न उसके साथी जंग जू वो पोरस हैं और न उसके हाथी हैं कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर आज उनकी तुरबत पर आज हो सब को हो सबको लौटे निकल पाएगा सर को उठा कर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज छूटा है तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है कब्र है तेरी मंजिल और ये पराती है और ये पराती कब्र में तुझको कुर्ता पाक डालेंगे अपने हाथ से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे पे खाक डालेंगे मुंह पे खाक डालेंगे तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे कल तुझे भुला इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में जान अपनी मुश्किल में जान अपनी मुश्किल में कर गुनाहों से तौबा धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए